चौथा हमारा रब हमारी रहनुमाई के बाद हमारे दिलों को नहीं मानता है और हमें रहम के तौर पर अब की रूह से अता करता है क्योंकि अब बेवकूफ़ हैं